जब कभी तकलीफ से तंग आकर वो उससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा कि चखो जलती आग का मजा